वो कहेंगे क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल वाजे निशानियां लेकर नहीं आए थे वो कहेंगे क्यों नहीं दारोगे कहेंगे फिर तुम ही दुआ करो और काफिरों की दुआ उस रोज बेकार होगी